क्या खिड़की बंद कर देंगे ये दुकान हाँ। हाँ। सुनो वस्तु तो जन्म राहित्य रूपांतर महा वस्तु का जन्म किसी भी वस्तु का जन्म नहीं होता है वस्तुतः वास्तव जन्म नहीं ऐसे प्रतीत होती है पारमार्थिक जन्म नहीं है इसमें दूसरे हेतु कहते हैं इस कारिका में न जायते नादे फलं चापि स्वभावतः जायते नादे फलं चापि स्वभावतः आदिर्न विद्यते यस्य तस्य आदिर्न विद्यते आदिर्न विद्यते यस्य तस्य आदिर्न विद्यते हेतुर्न जायते नादे फलं चापि स्वभावतः आदिर्न विद्यते यस्य तस्य आदिर्न विद्यते अनादे हेतुर्न जायते अनादे फलात फल है कार्यक्रम संघात वो अनादि फल से हेतु न जाए थे फलन चाहती अनादि हेतु से फल भी उत्पन्न होता है ये भी नहीं होगा अनादि फल से हेतु न जाए थे अनादि हेतु से फलन चाहते न जाए थे और स्वभावतः अनादिकाल से जिसकी आदि नहीं उत्पत्ति ही नहीं हुई जिसकी उत्पत्ति नहीं है ऐसे फल से हेतु की उत्पत्ति जिस हेतु की उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे हेतु से फल की उत्पत्ति ये दोनों नहीं बनेगा और स्वभावतः बिना निमित्त उत्पत्ति ये भी नहीं होगा आदि न विद्यत यस्य यस्य आदि मतलब कारण न विद्यते जिसका कारण न विद्यते तस्य ही आदि न विद्यते तस्य उत्पत्ति न विद्यते जिसकी उत्पत्ति के कारण नहीं उसकी उत्पत्ति नहीं होगी यसे आदि उत्पत्ति कारण न बरतते तस्य आदि उत्पत्ति न भवती कारण नहीं तो उत्पत्ति नहीं होगी नानादेह फलाद हेतु जायते अनादेह फलाद हेतु न जायते अनादि फल से कार्यक्रम संघात से हेतु धर्माधर्म न जायते नहीं फल से अनादि से सत्य हेतु जन्म युक्तम सदा जन्म का संघात ये चौथा फल कार्यक्रम संघात यदि अनादि हो उससे हेतु की उत्पत्ति नहीं होगी एक तो फल की अनादि का अर्थ उसके आदि ही नहीं उत्पत्ति नहीं है तो स्वरूप नहीं है तो उससे कार्य नहीं होगा और यदि हमेशा नित्य है इसलिए अनादि है तो अनादि फल से हेतु की उत्पत्ति कहेंगे तो सदा प्रजन्म प्रसंग फल से हमेशा ही हेतु की उत्पत्ति फलमति न हेतु हेतुर अनादे जायते कार्यक्रम संघात रूप फल भी अनादि हेतु से धर्माधरण से जाए जायते इतना दो तो सामने समान दो है हमेशा उत्पत्ति होगी कार्यक्रम संघात हमेशा ही चले फलम चाहती ना तो स्वभावत निमित्त मंत्रण फलम हेतु हेतुर्वा जायते स्वभावत अलग है निमित्त के बिना फलम भतरवा कार्यक्रम संघात हो धर्माधर्म हो बिना निमित्त स्वभाव से उत्पन्न ये भी नहीं हो सकता है इनमें सब में हेतु के तत्र हेतु माह क्यों उत्पत्ति नहीं होगी आदि न विद्यते अस्य आदि न विद्यते आदि जिसके नहीं कारण नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी कारण रहित जन्मानुपलब्धेर इसमें प्रथम आदि है कारण द्वितीय आदि है उत्पत्ति जिसकी आदि नहीं कारण नहीं उसकी उत्पत्ति नहीं है कारण रहित से जन्मानुपलब्ध ऐसा क्यों नहीं दिखता है जिसका कारण नहीं वो जन्म होता है ऐसा नहीं होता वस्तु ने वस्तु के जन्माभावे हेत्वंतर परतम श्लोक से सूचयती वस्तु की उत्पत्ति वास्तव नहीं है इसमें दूसरा हेतु है ये श्लोक में कहा गया श्लोक हेतुअंतर परत है अन्य हेतु प्रतिपादन करने में इस श्लोक का तात्पर्य है इसको इतने सूचित करके भगवान भाष्यकार किंच हेतु फलोर अनादित्व अभ्युपगछता तया बलात् हेतुफलोर अजन्म एवं अभ्युपगत हेतु फल दोनों को अनादि जब तो मानते हो अनादि मानने वाले के द्वारा द्वारा बलात् अवश्य ही हेतु फल और अजन्य स्वीकृतम हेतु और फल दोनों की अनुत्पत्ति उत्पत्ति के अभाव ये मानना पड़ता है जबरदस्ती इच्छा नहीं होने पर जबरदस्त मानना पड़ता है यदि हेतु फल दोनों अनादि है तो अनादि होने से उसको उत्पत्ति नहीं होगी अजन्मा मानना पड़ेगा टीका में दर्शय दर्शयित प्रथम प्रतिज्ञान करोती दूसरा हेतु है उसको दिखाने के लिए पहले प्रतिज्ञा करते हैं हेतु फल और अजन्म एवं अभिभगतम फलाद हेतुर्जाते ततस्य फलम इस अभिभगनाथ कथम अजन्म अभिभगतम इति पूछती पूर्व पुष्ट है हम तो मानते फल से हेतु गिस्पति धर्माधर्म गिस्पति उत्पत्ति कार्यक्रम संघात होने पर तटस्थ फल धर्माधर्म होने से फिर तो कार्यक्रम संघात इति स्वीकारात अभ्युपगमात मान्य से प्रथम अजन्म अजन्म कैसे स्वीकृत हुआ ये तो पूछता है पूर्व पक्षी प्रथम उसका उत्तर सिद्धांत देगा तत्र आद्य पादाक्षर योजना परिहरती श्लोक के प्रथम पाद के अक्षर योजन करके परिहार करते हैं अनादे आदि रहता फलाद हेतु न जाते आदि रहित फल से जिस फल कार्यक्रम संघात की आदि ही नहीं है उत्पत्ति नहीं हुई है उससे हेतु न जाए ठीक है सदैव उपसादित अनादि फल से हेतु न जायते इसी को ही प्रतिपादन करने के लिए आगे नहीं अनुपनाद अजाद अनाद हे फलाद हेतु जन्म स्थित तो क्या अनादि का अनुपनाद आदि इसके हो ही नहीं स्थिति नहीं तो अनुपन्न एक अजन्मा अनादि फल से कार्यक्रम थे है तो धर्माधर्म का जन्म होगा इत्यादि को मानते नहीं है क्योंकि जब कार्यक्रम संघाते उत्पन्न तो ही नहीं हुआ तो इसको तो धर्माधर्म कैसे होगा फलम का तो कार्यक्रम संघात एक फल से अनुत्पन्न फल से हेतु धर्माधर्म ये नहीं हो सकता फलम चापी भागम विभाजित फलम चापी अनादे फलाद हेतु न जायते फलम चाहती अनादे हेतु से फल नहीं होगा फलम च आदि रहिताद अनादिर हेतु अजात अजन्म हेतु हो अनादे हेतु फलम च न जायते अनादि हेतु से फल उत्पन्न नहीं होता है अनादि का अर्थ आदि रहित तो। अविद्यमान आदि से जिसके आदि ही नहीं अजन्म है अजन्म जो हेतु है उससे फल की उत्पत्ति जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे हेतु से धर्माधर्म आदि फल की उत्पत्ति कैसे होगी ठीक है अजा जायते नाभिपगम्यते संबंध अजात जायते अजन्मा फल से हेतु अथवा अजन्म हेतु से फल उत्पन्न होता है ऐसे नहीं माना जाता है स्वभावत तो पदम योजती कारिका में के स्वभावत है ये स्वभावत है किसकी उत्पत्ति है ये भी नहीं फलम से आदिर होता गनादिर हेतु रजा अगर स्वभावत निमित्तम तो थे नाथिपगम्य थे बिना कारण स्वभाव से उत्पन्न हो जाता है ये तो भी नहीं माना जाता है फलितम निगम जो निष्पन्न हुआ वो कहते तस्माद अनादितम अभ्युपगछता तो या हेतु फलेर अजन्म एवं अभ्युपगम्य थे अनादितम अभ्युपगछता तो हेतु फलेर हेतु और फल दोनों को अनादित मानते हो ऐसे मानने से दोनों की अनुत्पत्ति ही स्वीक्रिय तो या अजन्म एवं अजन्म माना जाता है न हेतु फल जन्मवतोर अनादितम अभ्युपगत शक्य हेतु फल दोनों की यदि उत्पत्ति होगी तो फिर अनादि कैसे होगा अनादि होने के लिए इनकी उत्पत्ति नहीं उत्पत्ति नहीं होते तो, हेतु फल की उत्पत्ति किसी प्रकार नहीं होगी में तो अजन्म एवं तय आकस्मिक यदि उत्पत्ति मानेंगे तो फिर अजन्म कैसे होगा अजन्म आकस्मिकम किसी बिना कारण अजन्म उत्पत्ति मानेंगे तो अजन्म कैसे होगा अजन्म तो ऐसे ही आकस्मिक अतर्कित तो अनभिमत सिद्ध होगा स्वभाववाद निराकरण प्रतिज्ञातम उत्तरार्धावस्तंभन प्रतिपादयती तो स्वभाव से उत्पन्न होगा ऐसा नहीं उसका निराकरण जो किया गया स्वभाव से उत्पन्न नहीं होगा उत्तरार्ध का आश्रय करके स्पष्ट करते यद आदि ही आदि न विद्यते यस्य सत्य आदि न विद्यते उत्तरार्ध आदि का तो कारणम न विद्यते यस्य लोक में जिस का कारण नहीं है तसे आदि ही आदि का उत्पत्ति न विद्यते पूर्व का जाति उत्पत्ति न विद्यते कारणवत ही आदिर अभ्युपगम्य न अकारणवत जिसका कारण है उसकी उत्पत्ति होती है जिसका कारण नहीं उसकी उत्पत्ति नहीं होती यदि उसकी अनादि है कारण नहीं है उत्पत्ति नहीं वस्तु नो वस्तु तो जन्मायुगा अजम विज्ञान मात्र तत्व किस वस्तु की उत्पत्ति वास्तव नहीं है जन्म नहीं हो सकता है इसलिए विज्ञान ज्ञान मात्र ही अजन्मा वास्तव स्वरूप से कहा गया इधानी बाह्यार्थवादम उत्थापयती बौद्धों में बाह्यार्थवाद दो सैद्धांतिक वैभाषिक बाह्यार्थ मानते हैं योगाचार विज्ञानवादी ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु बाहर है ही नहीं मानते हैं जो माध्यमिक है शून्यवादी शून्य का ही विवर्त है बाह्य वस्तु हम जैसे कहते ब्रह्म का विवर्त सारा प्रपंच माध्यमिक मत है बौद्धों का शून्य का विवर्त है सारे प्रपंच शून्य से अतिरिक्त है ही नहीं मुख्य माध्यमिको विवर्तम अखिलम शून्य से मैंने जगत माध्यमिक मत है मुख्य शून्य से अखिलम विवर्तम संपूर्ण विवर्त इसे मानता है माध्यम का द्वितीय मत है योगाचार मत तो संत मत तासाम विवर्तो किल योगाचार मत में तो बुद्धि है ज्ञान <clears throat> मतय प्रशिक्षण उत्पत्ति नाश होने वाले ज्ञान क्षणिक विज्ञान कासान विवर्त अखिल उनका ही विवर्त है सारा ब्रह्मांड क्षणिक विज्ञान है प्रशिक्षण उत्पत्ति नाश होने वाले यही है उससे अतिरिक्त कुछ भी वस्तु बाहर नहीं है उनका ही को भ्रांति से अन्य प्रकार से दिखता है असत्य को अन्य भाव विवर्त है ऐसे दिखता है बाह्य रूप से योगाचार मत पुसंति मत तासाम विवर्त तो फल अर्थ क्षणिक स्वसौ अनुमितो बुद्धि सौतांत्रिक सौतांत्रिक का तो बाह्य अर्थ है किंतु प्रत्यक्ष नहीं होता है क्षण क्षणिक स्वता अनुमित अनुमित अनुमान से ज्ञात होता है बुद्धि के द्वारा ज्ञान से ज्ञान होता है तो उसका विषय बाहर होना है एक अनुमान से निश्चय करते हैं किंतु वैभाषिक कहते प्रत्यक्षम क्षण भंग सकलम वैभाषिक तो भाषते बाह्य वस्तु है और प्रत्यक्ष भी होता है किंतु क्षण भंगुर प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाले पर्वत घट गृह आदि बाहर जितने दिखते हैं वृक्ष आदि प्रतिक्षण उत्पत्ति तो नाश वाले है किंतु बाहर वस्तु मानते हैं योग वैभाषिक और स्वतंत्र के दोनों बाहर वस्तु मानते हैं वैभाषिक कहते तो प्रत्यक्ष होता है ये स्वतंत्र के मत में बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है अनियमित होता है इतने भेद है अर्थवादन उत्थापय अभी बाह्य वस्तु है इसका आरंभ करते हैं प्रज्ञप्ते सन्निमित्व अन्यथा दयनाशत संक्लेशोपलब्धे परतंत्रास्थिता मता संक्लेशोपलब्धे परतंत्रास्थिता मता रम्यप्रेतं है सन्निमित्व प्रज्ञते है ज्ञान ज्ञान सन्निमित्त है सविषय के है ज्ञान होता है तो उसका विषय होना चाहिए ज्ञान में सविषयकत्व है उसका विषय बाह्य वस्तु है शीत उष्ण मधुर अम्ल रक्त पीत आदि ज्ञान होता है विलक्षण ज्ञान होता है तो उसका विषय भी विलक्षण होना चाहिए अन्यथा यदि बाह्य वस्तु है ही नहीं खाली ज्ञान ही है तो ज्ञान में वैचित्र कहाँ से आएगा जय नाशतः जय से प्रत्यय वैचित्र से ज्ञान में जो विलक्षण उसका नाश अभाव हो जाएगा यदि बाह्य वस्तु है ही नहीं तो ज्ञान वैलक्षण्य विलक्षणता शीत उष्ण अम्ल पित्त ये सब अलग अलग ज्ञान होता है उसका नाश अभाव हो जाएगा यदि बाह्य वस्तु नहीं मानेगी संक्लेश से उपलब्धि से और क्लेश की उपलब्धि होती दाह स्फुट से आदमी स्पर्श करेंगे तो शीतकाल में शीत है अग्नि का स्पर्श क्या तो दाह स्फुट होता है स्पष्ट होता है संक्लेश से उपलब्धि से यदि बाह्य वस्तु है ही नहीं खाली ज्ञान ही है तो दाहस्फोट क्यों हो जाए है अग्निस्पर्श करने पर इसलिए परतंत्र अस्थिता मता परतंत्र से अस्थिता परतंत्र परशास्त्र सिद्धांत बाह्यार्थवादी वो शास्त्र के अस्थिता मतलब तो बाह्यार्थ है तो बाह्यार्थ प्रतिपादक शास्त्र भी सार्थक है अर्थात बाह्य वस्तु है इसे माना गणना तो चाहिए ये बाह्यार्थवादी कहते हैं टीका में ज्ञान से सविषयते प्रत्यय वैचित्र अनुपत्ति प्रमाण ज्ञान सविषय के है इसमें क्या प्रमाण है अर्थापत्ति प्रमाण है प्रत्यय वैचित्र अनुपत्ति सविषयकत्व बिना प्रत्यय से वैचित्र अनुपत्या ज्ञान से सविषयकत्व कल्प्यते प्रत्यय ज्ञान ज्ञान विलक्षण है शीत ज्ञान उष्ण ज्ञान मधुर ज्ञान अम्ल ज्ञान रक्त पीत आदि ज्ञान घटपट आदि ज्ञान ज्ञान विलक्षण होता है यदि विषय भिन्न भिन्न नहीं हो तो ज्ञान में विलक्षण नहीं हो सकता है जैसे दीवा जाना से दिन में नहीं खाता है पीनत्वम रात्रि भोजन के में अनुपन्न मोटा तगड़ा है तो रात्रि भोजन करता है कल्पना करते अर्थापति प्रमाण से दिवा भुंजान से पीनत्व रात्रि भोजन बिना अनुपत्या रात्रि भोजनम कल्प्यते अर्थापत्ति से निश्चय किया जाता है ठीक इसी प्रकार बाह्य विषय के बिना ज्ञान में वैचित्र अनुपत्या वैचित्र नहीं हो सकता है वैचित्र अनुपत्या ज्ञान का विषय बाह्यार्थ है ऐसा निश्चय होता है अर्थापति प्रमाण से तो ज्ञान सविषय के इसमें प्रमाण हो गया प्रत्यय वैचित्र अनुपत्ति अर्थापति प्रत्यय वैचित्र से अनुपत्या ज्ञान से सविषयकत्व बिना ज्ञान सविषयक नहीं होगा तो ज्ञान में वैचित्र नहीं हो सकता है तो ज्ञान में वैचित्र अनुपत्या ज्ञान से सविषयकत्व ज्ञान सविषयक ये सिद्ध होता है ये अर्थापति प्रमाण है अन्यथा द्वय नाशत नहीं तो द्वय प्रत्यय वैचित्र नहीं होगा अभाव हो जाएगा अग्नि दाहादि प्रयुक्त दुखो उपलब्ध उपलब्धि अनुपत्य बाह्य अर्थ इत्या तो दूसरा अर्थापति अग्नि से हाथ पाद आदि स्पर्श होता है तो दाह होता है आदि से स्फोट होता है दाहादि कोई तो दुख उपलब्ध होती है यदि बाह्य वस्तु अग्नि आदि नहीं हो तो दुख नहीं होना चाहिए दाहादि कोई तो दुख उपलब्धि दुख की उपलब्धि अनुभव होता है ये अनुपत्यार अन्य अनुपत्य यदि विषय अग्नि आदि नहीं हो तो दुख उपलब्धि अनुपत्ति अनुपत्या बाह्य वस्तु अग्नि आदि सिद्ध होता है अग्नि आदि की सिद्धि होती है अस्थि बाह्यार्थ इत्याह संक्लेश से उपलब्धि परतंत्रास्ति कर्म का संक्लेश स्पष्ट होता है तो परतंत्र परतंत्र का अर्थ परक्यम शास्त्र सबसे अस्थि का पर शास्त्र है अर्थात तद विषय से बाह्यार्थ से विद्यमानता है यावत शास्त्र है मतलब शास्त्र का जो विषय बाह्यार्थ वो विद्यमान है ये सिद्ध होता है श्लोक से तात्पर्य माह कारिका है तात्पर्य भगवान भाष्यकार कहते हैं उक्त अर्थ से दृढ़ीकरण चिकित्सया पुनराक्षिपति जो कहा गया अर्थ उसको दृढ़ करने की इच्छा से फिर आक्षेप करते हैं प्रज्ञानम प्रज्ञंती ही प्रज्ञान प्रज्ञंत ज्ञान शब्दादि प्रतीति ही शब्दादि का ज्ञान स्वरूप ज्ञान है शब्द रूप का ज्ञान टीका में वस्तुनो नास्ति वस्तु तो जन्म वास्तव वस्तु का जन्म नहीं है ये उपचार थे तत्व दृढ़ीकरणम उसको दृढ़ कैसे करना पूर्वोत्तर पक्षाध्यान पूर्व पक्षी कहेगा जन्म है सिद्धांत इसका निराकरण करेगा पूर्वोत्तर पक्ष लेकर उसको दृढ़ करना चिकित्सते कर्तुम इच्छते दृढ़ीकरण कर्तुम इच्छते दृढ़ी करने के लिए आरंभ किया जाता है इस श्लोक में तया पुनराक्षेप मुख्य न बाह्यार्थवादी नाम प्रस्थान उत्थापयती चिकित्सा गृह करने की इच्छा से आक्षेप के द्वारा बाहर सवादियों का आरंभ मत आरंभ करते ब्रह्म स्वरूप भूतान प्रज्ञप्ति प्रतिषेधती प्रज्ञप्ति शब्द स्वरूप ज्ञान के लिए भी प्रयोग होता है रूप रस घटपट आदि ज्ञान के लिए भी प्रयोग होता है यह स्वरूपभूत प्रज्ञप्ति नहीं लेना अभी तो शब्द आदि का ज्ञान लेना आदि प्रती शब्द रूप रस आदि का जो ज्ञान होता है वो सविषय के है सन्निमित्त का तो सविषय उसका निमित्त है कारण ज्ञान का कारण विषय होता है अन्य कारण तो है मुख्य कारण विषय विषय से ज्ञान होगा ज्ञान सविषय के सत्या सन्निमित्व निमित्तम का तो कारण विषय सन्निमित्तत्व का तो सविषयत्व सविषय के है साकारवादम विदस्यति विज्ञानवादी कहते ज्ञान का ही आकार है बाह्य वस्तु जो दिखता है वो ज्ञान का ही आकार है ज्ञान ही घट पट रजत सब रूप से दिखता है उसका विवाद करते हैं स्वात्म व्यतिरिक्त विषया प्रति जानी है ये प्रतिज्ञा करते हैं स्वात्म मतलब ज्ञान अपना स्वरूप से भिन्न विषय वाला है ज्ञान ज्ञान का विषय है अपने स्वरूप से भिन्न और विषय है अपना ही रूप है योगाचार कहेंगे ज्ञान का ही स्वरूप बाह्य वस्तु अग्नि हो शीत हो बर्फ हो खाद्य हो शत्रु हो मित्र हो जो कुछ दिखता है ज्ञान का ही आकार किंतु बाह्य अर्थवादी कहते आत्म व्यतिरिक्त विषया अपना स्वरूप ज्ञान से भिन्न है विषय उसका है केवल ज्ञान का आकार नहीं प्रति प्रतिजानी में ही हम प्रतिज्ञा करते इसे बाह्य अर्थवादी कहते हैं टीका में प्रज्ञंतर विषय निरपेक्ष न शास्त्रित विषयता एक आशंक विज्ञानवादी कहते हैं ज्ञान विषय की अपेक्षा करता नहीं जैसे सपने में ज्ञान होता है विषय के बिना हस्ती रथ मार्ग शत्रु मित्र पर्वत सब ज्ञान होता है उसमें कोई विषय नहीं है विषय के बिना जैसे सपने में ज्ञान होता है ऐसे विज्ञानवादी कहते हैं अभी जागृत अवस्था में भी विषय के बिना ही ज्ञान होता है तो ज्ञान विषय की अपेक्षा करता नहीं प्रज्ञातर विषय निरपेक्ष विषय निरपेक्ष विषय की अपेक्षा के बिना ज्ञान होता है जैसे स्वप्न में इससे क्या सिद्ध होगा न सात्म विषय अतिरिक्त विषय था ये विज्ञानवादी कहते अपने स्वरूप से अतिरिक्त उसका विषय नहीं ज्ञान का सात्म अतिरिक्त अतिरिक्त करते ज्ञान उससे अतिरिक्त विषय नहीं है ज्ञान का ही आकार सब है ऐसा शंका उनसे कहते बाह्यार्थवादी नहीं निर्विषया प्रज्ञप्ति शब्दादि प्रतीति शब्दादि प्रतीति जो ज्ञान है वो निर्विषय विषय के बिना ऐसा नहीं है विषय के बिना हो तो कभी उष्ण कभी शीत कभी मधुर कभी अम्ल ये सब सत्य वैचित्र कैसे होगा ठीक है सन्निमित्व सवित स्फुरणम सन्निमित्व है तथा सन्निमित्वाद ज्ञान तो सन्निहित सन्निमित्त है सविषय के क्योंकि सविषय तो निष्कुरण होता है तमेव हेतु द्वितीय पाद योजन या विशदेती द्वितीय पाद अन्यथा देवनाशत श्लोक के द्वितीय पाद अन्य द्वयनाथ तो द्वितीय पाद की योजना से हेतु का स्पष्टीकरण करते उस हेतु को अन्यथा द्वयनाशत अन्यथा अन्यथा का तो निर्विषय यदि ज्ञान निर्विषय को मानेंगे विषय के बिना ज्ञान मानेंगे जैसे विज्ञानवादी कहते हैं शब्द नीलपित आदि तथ्य वैचित्र द्वेष नाथ तो नाश अभाव प्रसजित इत्यर्थ शब्द स्पर्श ज्ञान अलग अलग है शब्द श्रवण इंद्र से ग्रहण होता है स्पर्श तब तो इंद्र से नील पीत चक्षुर इंद्र से ग्राह्य भी विषय भिन्न भिन्न कभी नील ज्ञान कभी पीत ज्ञान कभी लोहित आदि ज्ञान विभिन्न प्रकार प्रत्यय वैचित्र विलक्षणता यही है द्वेत उसका नाश उसका नाथ की आपत्ति नाथ का अभाव प्रत्यय वैचित्र नहीं होना चाहिए यदि ज्ञान निर्विषय का हो ठीक है प्रसंग से इष्टत्व प्रत्याग से प्रसक्ति है कहते इसे प्रत्यय वैचित्र नहीं होगा प्रत्यय वैचित्र नहीं होगा तो विज्ञानवादी कहे ठीक नहीं हो प्रसंग इष्ट हो तो बाह्य कहते इष्ट नहीं कहते तो प्रत्यय वैचित्र होता है न तो प्रत्यय वैचित्र से द्वय अभाव अस्थि प्रत्यक्ष का प्रत्यय वैचित्र द्वय तो उसका अभाव नहीं है तो प्रत्यक्ष ही सबको शीत उष्ण आदि प्रत्यक्ष होता है नील पितादि प्रत्यक्ष होता है प्रत्यय वैचित्र मधुर अमलादि का प्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यय वैचित्र का निराकरण नहीं कर सकते ठीक है मैं प्रत्यय वैचित्र अनुपत्ति फलम चतुर्थ पाद व्याख्यान कथयती प्रत्यय वैचित्र अनुपपत्ति निर्विषय हो सविषय तत्व बिना विषय के बिना ज्ञान में वैचित्र नहीं हो सकता है प्रत्यय वैचित्र अनुपत्या निश्चय होता है सविषय के प्रयुतम फलम चतुर्थ पाद व्याख्यान के द्वारा कथन करते हैं कि ज्ञान सविषय है विषय है अतः प्रत्ययবৈচিত্রस्य जयस्य दर्शनात् प्रत्ययবৈচিত্র্য দৈহে উহয় প্রতিশেতা হ। পরesamতন্ত্রং পরতন্ত্রং কৃতে অন্যশাস্ত্রং পরতন্ত্রে অন্যশাস্ত্র বাহির সদাদিক শাস্ত্র। পক্ষে পরতন্ত্রस्य অর্থাৎ পরতন্ত্র আশ্রয়েতে বাহিরতস্থ। পরশাস্ত্রকে আশ্রয়েতে বাহিরত। বাহিরকে আশ্রয়ে करके उनको শাস্ত্র परतंत्र का आश्रय बाह्य अर्थ ज्ञान से भिन्न अर्थ ज्ञान व्यतिरिक्त ज्ञान से अतिरिक्त अस्थिता मता ओ हे बाह्य अर्थ हे ये अभिप्रेत है ठीक है मैं नन प्रज्ञते स्वभाव भेदन बाह्यालंबन वैचित्र्यम अंतरण स्वगतम वैचित्र्यम घटिष्यते तथा विज्ञानवाद शंका करते हैं प्रज्ञात है स्वभाव भोजन स्वभाव विशेषण है ज्ञान का स्वभाव है कि विलक्षण होता है ज्ञान जैसे स्वप्न विषय है ही नहीं कभी मधुर कभी अम्ल कभी कुछ ज्ञान होता है स्वप्न बाह्य आलम्बन वैचित्र मंत्र बाह्य आलम्बन विषय को आलम्बन आश्रय के बिना और विषय में वैचित्र के बिना ही ज्ञान में स्वगतम वैचित्रम हो जाएगा विषय में विलक्षणता नहीं हो भिन्न विषय भिन्न भिन्न विषय नहीं होने पर भी ज्ञान में ही भिन्न भिन्न आकार हो सकता है घटित से तो हो जाएगा ऐसे विज्ञानवादी कहने पर शंका ऐसा करने पर कहते हैं बाहरवादी नहीं प्रज्ञाते है प्रकाशनात्मक स्वरूप आया नील पीतादि बाह्य आलम्बन वैचित्र्यम अंतरण स्वभाव भेदने वैचित्र संभव संभव बाहर सवादी कहते वैभाषिक सौतांतिक प्रकाश मात्र स्वरूप ज्ञान ज्ञान का क्या स्वरूप है प्रकाश ज्ञान मात्र यदि विषय नहीं हो और विषय में वैचित्र नहीं हो तो ज्ञान में इतने भेद कहाँ से आ जाएगा नील पितादि बाह्य आलम्बन वैचित्र मंत्र न बाह्य आलम्बन नील पीत मद आदि से मधुर अम्ल शीत उष्ण ये बाह्य विषय के वैचित्र के बिना बाह्य विषय भी लक्षण है वो वो यदि बाह्य विषय विलक्षण नहीं हो तो ज्ञान में स्वभाव से ही इतना अलग अलग आकार कहाँ से आ जाएगा स्वभाव भेदन ज्ञान में स्वभाव विशेष ही स्वभाव भेदन का तो स्वभाव विशेष है नहीं वो स्वभाव विशेष से ही ज्ञान में वैचित्र संभव हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता विषय के बिना ज्ञान में वैचित्र हो नहीं सकता स्फटिक औपाधिक अंतर ही प्रत्यय वैचित्र स्वाभाविक यदि ज्ञान में वैचित्र नहीं होगा किसी उपाधि से ज्ञान में वैचित्र हो जाए ऐसा शंका करने से बाह्य अर्थवादी कहते हैं उपाधि का मानेंगे तो उपाधि बाह्य अर्थ है बाह्य अर्थ रूप उपाधि के बिना दूसरे उपाधि का निरूपण नहीं हो सकता है बाह्य अर्थ अतिरिक्त उपाधि अनाधिगमार <coughs> ज्ञान के लिए वैचित्र है उपाधि से उपाधि बाह्य विषय उसके अतिरिक्त कोई उपाधि का ज्ञान नहीं होने से मैवम इत्याह भाष्य में स्फटिक सेव नीलादिपाध्याश्रय बिना वैचित्र न घटते अभिप्राय स्फटिक स्वच्छ है स्वच्छ होने से एक ही प्रकार है स्फटिक में कभी नील कभी शीत कभी रक्त से भान होगा तो बाह्य विषय के बिना उसके अन्य निमित्त के बिना नहीं होता नीलादि उपाधि आश्रय बिना निरादि उपाधि के आश्रय के बिना प्रकृति में वैचित्र जैसा नहीं होता है ठीक इसी प्रकार ज्ञान में भी वैचित्र नहीं होगा उपाधि के बिना कोई बाह्य विषय आलम्बन के बिना जैसे स्फटिक में एक स्वच्छ स्फटिक में कभी नीला कभी पीत कभी रक्त ऐसे भान नहीं होगा बाह्य विषय संबंध के बिना ठीक इसी प्रकार ज्ञान स्वच्छ है प्रकाश मात्र है उसमें नील पीत रक्त मधुर अम्ल शीत उष्ण ये सब ज्ञान वैचित्र्य नहीं हो सकता है बाह्य विषय आलम्बन के बिना टीका में तृतीय पादम हेत्वंतर परत्व अवतार तृतीय पाद का अवतरण करते हैं दूसरे हेतु करके संक्लेश से उपलब्ध ये तृतीय पाद है संक्लेश कष्ट उपलब्ध होता है दाहस्फोट आदि जन्य तो बाह्य वस्तु मानना पड़ेगा इत भाष्य में इत परतंत्राश्रय बाह्यार्थ से ज्ञान व्यतिरित अस्थिता परतंत्र का आश्रय बाह्यार्थ क्योंकि बाह्यार्थ को मान करके ही सौतांत्रिक वैभाषिक का बाह्यर्थवादी का शास्त्र है तो बाह्यार्थ कैसा है ज्ञान व्यतिरिक्त नहीं तो विज्ञानवादी कहेंगे अर्थ हम भी कहते ज्ञान का ही आकार है ये नहीं ज्ञान से अतिरिक्त बाह्यार्थ है कारण क्या है संक्लेश से उपलब्ध है संक्लेशनम संक्लेश दुखम दुख आदि टीका में तस्य उपलब्धि उपपादी दुख की उपलब्धि प्रतिपादन करते हैं भाष्य में से ही अग्निदाहादि निमित्त दुखम अग्निदाहादि निमित्त अग्नि के द्वारा दाह हो गया आदि से स्फोट होता है तन्निमित्त दुख तो उपलब्ध होता ही ठीक है तद उपलम्भे कुत्तो बाह्यार्थ सिद्धि इति आशंका दुख उपलब्ध होने पर भी बाह्य वस्तु की सिद्धि कैसे होगी शंका करने से बाह्यार्थवादी कहते हैं यदि अग्नि आदि बाह्यम दाहादि निमित्तम विज्ञान व्यतिरित न सैत दाहादि का दाह स्फोटादि का निमित्त अग्नि आदि है विज्ञान व्यतिरित इससे अग्नि यदि नहीं हो तब तो दाहादि दुख न उपलब्ध है दाहादि दुख की उपलब्धि नहीं होना चाहिए ठीक है उपलब्धि रहता है दुख से महाभूत तो, कहते ठीक है दुख उपलब्धि नहीं हो विज्ञानवादी कहेंगे इसी न सिद्धांत ये बाह्यार्थवादी कहते ऐसा नहीं कर सकते उपलब्धि होती दुख अनुभव होता है स्वानुभव विरोध है तो अपना अनुभव विरोध है उपलब्ध होते तो कष्ट होता है नहीं खा करके रहो तो देखो क्षुधाजन्य कष्ट होता है या नहीं दुख होता है अग्नि हाथ लगाए देखो तो दुख होता है दुख तो उपलब्ध होता है बाह्य अर्थ मानना चाहिए उपलब्ध थे तो ठीक है विशिष्ट दुख उपलब्ध अनुपति सिद्धम फलमाया विशिष्ट दुख दाह के साथ जन दुख उपलब्धि अनुपपत्ति बाह्यार्थम बिना बाह्य अर्थ के बिना इसे विशेष दुख उपलब्धि अनुपत्या सिद्ध होता है बाह्यार्थ अतः भाष्य में अतस्तेन मन्यामहे अस्थि बाह्यार्थ इसलिए हम मानते बाह्यार्थ है अस्थि बाह्य अर्थ विज्ञान आचरित बाह्यार्थाभाव ये भी विज्ञानवादी शंका करते हैं ज्ञान से अतिरिक्त बाह्यार्थ नहीं होने पर भी क्लेश उपलब्धि अविरुद्धा क्लेश उपलब्धि हो सकती है स्वप्न में से होती है दुख कष्ट बाह्य अर्थ नहीं होकर के इसे आशंका करने पर कहते नहीं भाष्य में नहीं विज्ञान मात्र संकोच युक्त विज्ञान मात्र में संकोच नहीं हो सकता ज्ञान मात्र में कष्ट कैसे होगा बाह्य वस्तु के बिना अन्यत्र न अन्यत्र ज्ञान में तो भेद नहीं कष्ट नहीं होता है टीका में अन्यत्र कैसे दाह छेदादि व्यतिरित दाह छेदादि नहीं हुआ चंदन पंख लेपा दो चंदन पंख लेपन किया उसमें तो ऐसे कष्ट नहीं होता है दाह में ऐसे कष्ट कैसे होता है तो ज्ञान मात्र यदि कहें तो चंदन लगाए तो भी कष्ट होना चाहिए नहीं होता है इसलिए बाह्य वस्तु अग्नि आदि दाहादि का निमित्त कष्ट का निमित्त मानना चाहिए स्वाभ्याम अर्थापत्तिभ्याम बाह्यार्थवाद प्राप्ति विज्ञानवाद उद्भावती दो अर्थापत्ति प्रत्यवैचित्र वैचित्र अनुपत्या बाह्यार्थ सिद्धि बाह्य अर्थ के बिना प्रत्यवैचित्र वैचित्र अनुपत्या बाह्यार्थ सिद्धि ये प्रथम है और बाह्य अग्नि आदि निमित्त के बिना दाह आदि निमित्त क्लेश उपलब्धि अनुपत्या बाह्यार्थ सिद्धि दो अर्थापत्ति प्रमाण है बाह्य अर्थ के लिए प्राप्त होने पर अभी विज्ञानवाद उद्भाव है विज्ञानवाद कहते बाह्य अर्थ ही नहीं ज्ञान से अतिरिक्त प्रज्ञप्ते सन्निमितत्वमिष्यते युक्तिदर्शनात् प्रज्ञप्ते सन्निमितत्वमिष्यते युक्तिदर्शनात् निमित्त भूतदर्शना निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते भूतदर्शनात् निमित्तत्वमिष्यते युक्तिदर्शनात् निमित्तस्यानिमित्तत्वमिष्यते भूतदर्शनात् प्रज्ञप्तेः सन्निमित्तत्वं प्रज्ञप्ति के युक्ति दर्शनात् इष्यते युक्ति है अर्थापति प्रमाण आपने कहा व्याहय वस्तु नहीं हो तो प्रत्यय वैचित्र नहीं होना चाहिए दुख कष्ट अनुभव नहीं होना चाहिए युक्ति दर्शनाथ प्रज्ञाते सन्निमित्त मिश्रते त्वया तो मानते हो किंतु निमित्त से अनिमित्व इष्यते भूत दर्शनाथ जिसको निमित्त कहते हो निमित्त नहीं है ज्ञान का निमित्त से अनिमित्व निमित्त है बाह्य वस्तु बाह्य वस्तु ज्ञान का निमित्त मानते हो वस्तुतः बाह्य वस्तुन अनियमित्व ज्ञान का निमित्त ही नहीं अनिमित्व इष्यते भूत दर्शनार्थ भूत कारण से वास्तव से दर्शनार्थ बाह्य जो घटपट आदि कार्य है अपने कारण से अतिरिक्त कुछ नहीं है बाह्य गृह देखते हैं अपने उपादान कारण से तो अलग करेंगे तो गृह कुछ रहेगा नहीं घट दिखता है बाहर नृत्य से पृथक करेंगे तो बाहर कार्य कुछ घट नहीं दिखता है भूत से वास्तव से कारण से दर्शनार्थ कार्य कारण से अतिरिक्त है ही नहीं तो वो कारण का भी कारण उसका भी कारण उसका भी कारण देखने से कार्य कुछ है ही नहीं तो फिर किसको निमित्त मानना जो बाह्य वस्तु का निमित्त कहते हो निमित्त है ही नहीं किंतु क्योंकि वो वस्तु है ही नहीं कारण से अतिरिक्त है ही नहीं भूत दर्शनार्थ इसका अन्य प्रकार कहेंगे अभूत दर्शनार्थ ऐसा विच्छेद करेंगे क्योंकि ईश्यते भूत दर्शनार्थ वो अवग्रह देना कोई जरूरत नहीं संधि होगी इंग प्रधानता देते अभूत आदि भी निकल जाएगा अभूत दर्शन का तो भ्रांति दर्शन भ्रांति ज्ञान भ्रांति ज्ञान है रूप से घटपट शब्द प्रसाद जो ज्ञान होता है सब भ्रम ज्ञान है जैसे सपने में भ्रम ज्ञान है जितने ज्ञान है सब भ्रम है भ्रम होने से भ्रम ज्ञान विश्व विषय विषय संबंधी नहीं भ्रम ज्ञान में तो सुक्ति में रजत दिखता है रज में सर्प दिखता है वहाँ विषय है ही नहीं जैसे ब्रह्म ज्ञान में विषय नहीं है विषय उसका निमित्त नहीं होता है ब्रह्म ज्ञान में विषय जैसे निमित्त नहीं होता है इस प्रकार अभी शब्द स्पष्ट दाह स्फोट आदि जितने ज्ञान होता है सब भ्रांति भ्रांति होने के कारण निमित्त से अनिमित्तम निमित्त जो बाह्य वस्तु है वो निमित्त नहीं है ज्ञान का भ्रांति ज्ञान का निमित्त नहीं होता है विषय ये कहते हैं विज्ञानवादी कहते हैं अस्तु का नाम वस्तु क्षति प्रज्ञते सन्निमित्तम युक्ति दर्शनाथ ये पूर्वाध कहने पर बाह्य अर्थवादी कहते ठीक है हम तो कहते युक्ति दर्शनाथ ज्ञान सन्निमित्त है कहानी ऐसा शंका कम से विज्ञानवादी कहते निमित्त से जिसको निमित्त मानते हो निमित्त नहीं है बाह्य वस्तु भूत दर्शनार्थ मतांतर प्राप्त तब निराकरण मुख्यते विज्ञानवादी में वर्तांतर बाह्य वस्तु बाह्यार्थ प्राप्त होने पर विज्ञानवादी इसका निराकरण करते श्लोक से तात्पर्य माह इस श्लोक का तात्पर्य भगवान भाष्यकार कहते अत्रुच्यते तत्र पूर्वार्धम विभजते अभी पूर्वार्ध विज्ञानवादी जो कहते हैं बाह्यार्थ निराकरण करने के लिए पूर्वार्ध का पहले विभाग विभाग व्याख्यान करते बाढ़ एवं प्रज्ञाते तत्व प्रज्ञाति सन्निमित से एक है आप जो कहते हो द्वय से उपलब्धि युक्ति दर्शना दिखते द्वय प्रत्यय वैचित्र दिखता है और से भी उपलब्ध होता है दो है अर्थापति द्वय दर्शनाथ नहीं तो द्वय का नाश हो जाएगा और से उपलब्धि रूप युक्ति दर्शनाथ ईश्वर तो मानते हो ठीक है द्वैत न सब तर्क प्रधान न प्रतीत मात्र सरणता युक्ता मत्वाह द्वैत अधितुम तर्क प्रधान हो तर्क से निश्चय करके दिखता है कैसे निराकरण करेंगे तो केवल प्रतीत मात्र सरणता नहीं था ऐसा मान करके विज्ञानवादी कहता है फिर भाव तावत्व युक्ति दर्शन वस्तु न तथा तभिगमे कारणम इत्यत्र न तथा तभिगमे कारणम इत्यत्र तावत्तम स्थिर होगा युक्ति दर्शन युक्ति दर्शन एक कारण वस्तु न तथा तो वस्तु बाहर है ऐसे मानने में युक्ति दर्शन एक कारण युक्ति से ही सिद्ध होता है बाहर वस्तु इसमें तुम स्थिर हो टीका में वस्तुनो बाह्य से अर्थ से तथात्म बाह्य अर्थ तथात्म मतलब विषय ज्ञान का विषय है ज्ञान का विषय बाह्य अर्थ बाह्य अर्थ तथ्य अभ्युपगमे कारणम ऐसे मानने में क्या कारण युक्ति दर्शन प्रागुक्त युक्ति दर्शन युक्ति द्वय देश प्रत्यय वैचित्र और संकोच उपलब्धि रूप युक्ति दर्शन एक अर्थे तम स्थिर भवो इसमें स्थिर स्थिर हो यदि योजना भाष्य वाक्य का अन्वय बताए विचार दृष्टि में अवस्तव्य अहम वर्ते चिंतक दूषण गृह बाह्यार्थवादी कहता है हम तो विचार दृष्टि का आश्रय करके रहते हैं तो क्या दूषण है बाह्य वस्तु है जिसके से सिद्ध होता है गुरु ही किम तत् तो क्या है बताओ बाह्यार्थवादी पूछता है तत्र उत्तरार्धम सिद्धांत व्याकुर्वन उत्तरमार्ध उत्तरार्ध सिद्धांत व्याकार व्याख्यान करते कहते हैं विज्ञानवादी निराकरण करता है बाह्यार्थ निराकरण सिद्धांत भी मानते इसे सिद्धांत व्याख्यान करता है उच्यते इत्यादि ना उच्यते निमित्त अनियमित्व निमित्त मतलब प्रज्ञप्ति का आलम्बन आलम्बन तो अभिमत जो घटादि तुम मानते हो वस्तुतः घटादि निमित्त नहीं है निमित्त अभिमत तुम मानते हो घटादि को वो निमित्त नहीं अनियमित्व मतलब अनालंबन तो वो आलम्बन नहीं है प्रत्यय वैचित्र हेतुत्व ईश्वर अपना वैचित्र का हेतु नहीं है ज्ञान में जो वैचित्र है उसका हेतु घटादि बाह्य वस्तु है ही नहीं ऐसा मानते ठीक है ना वैचित्र हेतु तो प्रश्न हेतु महा घटादि ज्ञान में वैचित्र का हेतु नहीं क्यों नहीं है प्रश्न करके हेतु देते कथम प्रश्न है उसका उत्तर भूत प्रश्न परमार्थ दर्शनाथ परमार्थ दर्शनाथ कैसा है परमार्थ दर्शन प्रपंच परमार्थ दर्शन क्या भूत है परमार्थ दर्शन उसका विस्तार करते भाष्य में विज्ञानवादी नहीं घटो यथाभूत मृद मृद रूप दर्शन सती तदगतिरिक्ति घट यथाभूत मृत मृत है यथार्थ कारण सत्य उसके देखने पर तद व्यतिरिकण मृत व्यतिरिकण घटो नहीं है तत्र वैधर्म दृष्टान्त न अन्यत्र अश्व से भिन्न है अश्व अलग कर देंगे तो भी महिषा रहेगा ऐसे यदि मृत्यु से घट भिन्न होता तो मृद व्यतिरिकण घट उपलब्ध होता वैधर्म दृष्टान्त यथा अश्वात महिष अश्व से महिष जैसे भिन्न है ऐसे मृद व्यतिरिकण घट अलग है ही घटे दर्शित अन्य पटे भी दर्शे जैसे घट है तो पट में देखो पटे वा तंतु व्यतिरिकण तंतु से बिना पट है ही नहीं तंतु से न्याय सामने मोदा है जिस तंतु भी देखो तंतवस्य अंशु व्यतिरिकण अंश अपने अवय से भिन्न तंतु भी नहीं एवं उत्तरोत्तर भूत दर्शन नहीं उत्तरोत्तर यथार्थ दर्शन होने पर परमार्थ दर्शन फलों में प्रश्न होती परमार्थ दर्शन का फल हुआ इस एवं उत्तरोत्तर भूत दर्शन आ शब्द प्रत्यय निरोधा शब्द ज्ञान समाप्त होने तक नहीं वह निमित्त उपलब्धान है निमित्त कुछ हम नहीं देखते क्योंकि उसके कारण सत्रित कार्य नहीं उसके कारण सत्रित कार्य नहीं तो कार्य रहे तो निमित्त होगा ज्ञान का ठीक है नहीं घटादि नाम स्व कारण व्यतिरेकन असताम घटादि जितने कार्य है अपने कारण व्यतिरेकन है ही नहीं न प्रत्यय वैचित्र हेतु तो, तो। घटादि विद्यमान हो ज्ञान वैचित्र का हेतु होगा कारण से अतिरिक्त तो है ही नहीं मित्र से अतिरिक्त तो घट है नहीं ज्ञान का वैचित्र ज्ञान वैचित्र का हेतु कौन बनेगा अतः घटादि प्रत्यवत प्रत्यांतराणी अति प्रत्यय है वास्तव आलम्बन वर्जिता नहीं मंत ज्ञान जैसे घट में दिखाया घट ज्ञान वैचित्र का हेतु कहते किन्तु घट का जो निरूपण करते अपने कारण नृत्य से अतिरिक्त है ही नहीं इसलिए ज्ञान वैचित्र का हेतु नहीं जिस प्रकार घट आदि ज्ञान में दिखाया अन्य ज्ञान में प्रत्ययांतराणी अपनी अन्य ज्ञान भी प्रत्यय तो विशेषात ज्ञान तो हेतु के द्वारा वास्तव आलम्बन वर्जिता जैसे घट ज्ञान वास्तव आलम्बन रहित है घट उसका आलम्बन कहते हैं अब विचार कर देखते हैं मिट्टी से भिन्न घट ही तो वास्तव आलम्बन नहीं मिला जैसे घट ज्ञान वास्तव आलम्बन रहित तो इसलिए जितने ज्ञान है प्रत्यय तविशेषाद ज्ञान से हेतु के द्वारा सिद्ध हो जाएगा वास्तव आलम्बन नहीं मानना भूत दर्शनम एवं तत्व दर्शनम भूत दर्शन का अर्थ क्या युक्ति से सात्विक दर्शन कारण ही वास्तव है कार्य अतिरिक्त ही तत्व निमित्तत्व अनिमित्तत्व व्याख्यातम इसलिए निमित्त ज्ञान का वास्तव नहीं है प्रत्यय का वैचित्र का हेतु नहीं है क्योंकि निमित्त है ही नहीं वास्तव इधानीम अभूत दर्शनादि तदच्छेदन व्याख्यानांतरण इससे अभूत दर्शनाद इसे पदच्छेद करके दूसरे व्याख्यान करते भाषा में अथवा अभूत दर्शनार्थ अभूत दर्शनार्थ बाह्यार्थ सनिमित्त समुचित बाह्यर्थ निमित्त नहीं क्योंकि भ्रांति ज्ञान है भ्रांति ज्ञान बाह्य अर्थ विषय होता है नहीं यथा रज्जादो अधिष्ठाने सर्पादे आरोपित से दर्शनाथ न तस्य वस्तुत्व दर्शनम आलम्बन इष्टम यथा रज्जाद अधिष्ठाने अधि अधिष्ठाने रज्जादि अधिष्ठान सर्पादे आरोपित से दर्शनाथ सर्पादे आरोपित ज्ञान होता है आरोपित सर्व ज्ञान का कोई वास्तव आलम्बन नहीं होता है तस्य के दर्शनम प्रति आलम्बनत्व न इष्टम ज्ञान के प्रति सर्प आलम्बन है नहीं क्योंकि सर्प है नहीं भाष्य में रज्जादेव सर्पादिर इत्यर्थ रज्जादि सर्प ज्ञान का आलम्बन नहीं है इसी प्रकार सर्वत्र भ्रम ज्ञान होने से ज्ञान का आलम्बन कोई है ठीक है तथा अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षा परमार्थ दर्शनार्थ अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षा परमार्थ नहीं है तो भ्रम ज्ञान भ्रम ज्ञान है बाह्य से अर्थ से ज्ञान प्रति आलम्बनत्म वास्तव अभ्युपगंतम असत्यम बाह्य अर्थ ज्ञान के प्रति आलम्बन ऐसे नहीं वास्तव नहीं मान सकते क्योंकि सब भ्रम ज्ञान परमार्थ ज्ञान ही वास्तव है अधिष्ठान ज्ञान उसके अपेक्षा बाकी जितने सब भ्रम ज्ञान है क्योंकि अभिमत बाह्य अर्थ न तत्व तो ज्ञान प्रति आलम्बनम भ्रांति विषय रज्जान सर्पाधिवत अनुमान करते हैं विमत बाह्यार्थ विवादास्पद बाह्यार्थ तत्व तो ज्ञान के प्रति आलम्बन नहीं होगा कारण क्या है भ्रांति विषय का ब्रह्म ज्ञान का विषय जैसे रज्जु में सर्प ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान का विषय सर्प वो ज्ञान का आलम्बन नहीं होता है निमित्त नहीं होता रज्जु में सर्प ज्ञान भ्रम होता है और भ्रम ज्ञान का निमित्त सर्प नहीं है क्योंकि यहाँ सर्प है ही नहीं ठीक इसी प्रकार जितने अर्थ है वो ज्ञान के प्रति आलम्बन नहीं होगा क्योंकि भ्रम ज्ञान का विषय भाष्य में भ्रांति दर्शन विषय त्याग भ्रम ज्ञान का विषय होने से निमित्त अनिमित्व भवे निमित्त जो विषय ज्ञान का निमित्त नहीं ज्ञान का आलम्बन नहीं है हेतु साधे भ्रांति दर्शन विषय हेतु तद अभाव अभाव अभाना भ्रम ज्ञान नहीं है तो बाह्य वस्तु को दिखता नहीं भ्रम ज्ञान नहीं दिखता है भ्रांति अभाव है बाह्यार्थ न भाती इस उत्तम हेतु प्रपंच भ्रम ज्ञान नहीं तो बाह्यार्थ नहीं दिखता है हेतु का विचार करते नहीं सशुस्त समाहित मुक्ता नाम भ्रांति दर्शन भ्रांति दर्शन अभावी आत्म व्यतिरिक्त बाह्य अर्थ उपलब्ध देते सशुप्त पुरुष समाहित मुक्त है भ्रम ज्ञान उनको ही नहीं भ्रांति दर्शन भारे अपने से भिन्न बाह्य अर्थ है ही नहीं ठीक है देहाभिमान बत बाह्यार्थ प्रतिभान ध्रोद्यात शंका करता है बाह्यार्थवादी देहाभिमान जिसको है बाह्यार्थवान होता है अद्वैत दर्शन होती तब प्रतिभान प्राप्त होती अद्वैत दर्शी ज्ञानी भी बाहर अर्थ भान तो मानना पड़ेगा नहीं देखना ऐसा हम से कहते नहीं उन्मुक्तारगतम वस्तु अनुन्मत्तरपी तथाभूतम करने थे उन्मत्त कोई अपने को कुछ ना कुछ देखता है बाहर वस्तु सागर तो अनुन्मत्त भी ऐसा ही मानेगा यथार्थ ऐसा नहीं होता है भ्रांत मानता है ज्ञानी क्यों मानेगा बाह्यार्थ समर्थनार्थम उत्तम अर्थापति जयन कथन निरसनीयम बाह्यार्थवादी कहता है हमें बाह्यार्थ समर्थन करने के लिए जय अर्थापति क्रमानंद जय नाटक प्रत्यय वैचित्र अनुपत्या बाह्यर्थ सिद्धि और संकोच उपलब्धि अनुपत्या बाह्यर्थ सिद्धि जय अर्थापति इसका निराश कैसे होगा शंका करने कहते हैं जय दर्शनम संकोच उपलब्धि से प्रस्तुता ये जो हेतु ये शक्ति निरस्त है तत्वदर्शिनाम स्फुरणातिरिक्त वस्तु अनुपलम्ब प्रदर्शन स्फुरन से अतिरिक्त वस्तु की उपलब्धि यही नहीं तत्व ज्ञानी को वैचित्र दर्शन दुखोपलब्धि से प्रतियोगिता वैचित्र ज्ञान में और दुखोपलब्धि दोनों का निराकरण हो जाता है सत्य ज्ञान के लिए स्फुरन चिद का ज्ञान से अतिरिक्त वस्तु की उपलब्धि ही नहीं होती तत्र केन कम पतित इत्यादि श्रुति प्रमाण है तेन अनुपद्यमान का अनुष्ठान इसलिए अनुपद्यमान अर्थापति अर्थापतित का स्थान ही नहीं होगा तो व्यवहार दृष्टिया पूर्व ब्रह्म समारोपित स्वप्न बदेव संवेदन वैचित्रम अब व्यवहार में होता है सुख तो तो दुख होता है ज्ञान में विलक्षण दिखता है पूर्व भ्रम समारोपित भ्रम से आरोपित वस्तु ही स्वप्न बदेव स्वप्न में जैसे दिखता है संवेदन वैचित्रम दुखम से व्यवहारंगम स्वप्न ज्ञान में वैचित्र जैसे दिखता है दुख भी होता है ये व्यवहार का अंग होता है वास्तव नहीं होकर के व्यवहार भी पारमार्थिक नहीं है व्यावहारिक है रज में सर्प दिखता है सृष्टि में रजत दिखता है उसको देख करके व्यवहार करते हैं इसी प्रकार सपने में जैसे दिखता नहीं होकर के ऐसे दिखने से वास्तव ज्ञान में वैचित्र नहीं होकर के ज्ञान में वैचित्र लगता है ज्ञान में वैचित्र भी नहीं दुख भी वास्तव है ही नहीं जैसे सपने में दुख नहीं होने पर दुख लगता है ऐसे यहाँ भी व्यवहार का अंग अन्यथा भी उपपत्ति अन्यथा अनुपति प्रमाण के दो से अन्यथा भी उपपत्ति अन्यथा यदि संभव है तो वो प्रमाण नहीं होगा कोई कहेगा ये बहुत मोटा तगड़ा है जरूर रात में खाता है ये अर्थापति प्रमाण नहीं क्योंकि रात्रि भोजन के बिना भी दिन में खा करके मोटा हो सकता है तो रात्रि भोजन का अपना क्यों करेंगे हाँ दिन में नहीं खाता है तब तो पीनत्व अनुभव से रात्रि भोजन कल्पना करना और वो केवल मोटा थोड़ पीनत्व को देकर के रात्रि भोजन कल्पना करना ये नहीं ये अन्यथा उपपति रात्रि भोजन के बिना भी पीनत तो संभव थी इसलिए रात्रि भोजन कल्पना नहीं होती ठीक इसी प्रकार यहाँ व्यवहार अंग ब्रह्म समारोहित को लेकर के व्यवहार अंग हो सकता है वस्तुतः पारमार्थिक प्रत्येक वैचित्र नहीं दुख भी नहीं ऐसे व्यवहार हो सकता है इसलिए ये अर्थ अन्यथा भी उपपत्ति होने अर्थापति प्रमाण नहीं हुआ बाह्यार्थ विषय के लिए ओ शनो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यः शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु